नानात्मिति नानात्मिति चलो भाई आज बुद्धा प्रकृत्य सर्वे धर्मा सुनिश्चिता यम भवदीक्षांति स्वमृतता कल्पते आर्य बुद्धा प्रकृत्य प्रकृत्य मैं स्वरूप देव आर्य बुद्धा कर बुद्धा मैंने प्रमाण कृत प्रागेव प्रकाश आदि मने कारण प्रमाण प्रवृत्त होता है प्रमाण प्रवृत्ति से पूर्व में ही वो बुद्ध है मैंने प्रकाशित है वृत्ति आदि प्रमाणों के द्वारा प्रवृत्ति से पहले ही प्रकाशित होने से उसका नाम आदि बुद्धा वृत्ति आदि के अनंत प्रकाशित होते वो गड़बड़ा रही है वो आदि बुद्ध नहीं है इसलिए आदि बुद्धा मैंने प्रमाण वृत्ति प्राग प्रकाश रूपा जो टिप्पण का स्पष्ट कर रहे हैं प्रकृति मैंने सर्वदेव सर्वे धर्मा सुनिश्चिता सभी धर्मों का स्वरूप सुनिश्चिता अर्थात नित्य व्यक्ति रूपा नित्य ज्ञान स्वरूप ही है सब के सब क्योंकि वह प्रवृत्ति वृत्ति आएंगे प्रवृत्ति से पहले से प्रकाशित होने के नाते समस्त जीवात्म स्वरूप जो है ना स्व प्रकाश है अतः नित्य ज्ञान स्वरूप ये एवं भवती जिसके अंदर ऐसी बुद्धि हो जाए ऐसा निश्चय हो जाए जिस मुख्य को आत्मा के विषय में ऐसी शांति निरपेक्षी बोध हो जाए शांति मैंने निरपेक्ष बोध हो जाए स्वमृतत्व है कल्पते वही वास्तव में मोक्ष के अधिकारी बन जाता है मोक्ष को अनुभव कर लेता है इसका भाष्य चलेगा जीविका भी धर्मान संवृत्ति न परमार्थ दैत्यानवी कारिका का भाष्य चलना था जिन्हें ज्ञता कहा गया है समस्त आत्माओं में वह भी समृत्य न परमार्थ समृत्य मैंने अविद्युत व्यवहार मात्र ही है कि अनेक आत्मा और आत्मा यही है आत्मान आत्मनी वह ऐसे लोग बता ना आत्मा अपने आप में अपने आपको उसने अपने अंतकरण से जान लिया ऐसे जान लिया का मतलब यज्ञ हो गया ये सब आविद्य प्रकार ही है पारमार्थिक नहीं है इत्याह इसके लिए ही कार्य का कथन हो रहा है यस्माद आदो बुद्धा की आदि बुद्धा आदो एव बुद्धा मैंने पहले से ही ज्ञात हो चुके ऐसे नहीं है कि बाकी दूसरों की सहायता से ज्ञान हो रहा है ऐसी बात नहीं स्व प्रकाश है वो स्वयं ज्योति स्वरूप होने के नाते सूर्य को जानने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं बल्कि सूर्य की जरूरत है और चीजों को जानने के लिए सूर्य के प्रकाश से आप अन्य समस्त पदार्थों को जानते हैं लेकिन सूर्य को किससे जानोगे आप उसके लिए तो और सूर्य को लाना पड़ेगा क्या कोई जरूरत नहीं उसी प्रकार आत्मा कद आदि बुद्धा प्रकृति व स्वभावदेव स्वभाव से स्वयं प्रकाश नित्य प्रकाश स्वरूप यथा नित्य प्रकाश स्वरूप सविता एवं नित्य बोध स्वरूप आदि बुद्धा का अर्थ है नित्य बोध स्वरूप है आत्मा जो ब्रह्म है नित्य ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप ही है जिस प्रकार से नित्य प्रकाश स्वरूप सविता है उसके द्वारा सबको जाना जाता है उसको जानने के लिए किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती उसे आत्मा के द्वारा सबको जाना जा सकता है लेकिन आत्मा को किससे जाना नहीं जाता अतः वह नित्य बोध स्वरूप है सर्वे धर्म सर्वे आत्मा नहीं चलता जितने भी जीवात्मा मान रहे हो आप ये सभी जीवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान स्वरूप ही है अच्छा हम निश्चय करते भी हो कहने उसका निश्चय करने कोई जरूरत नहीं निश्चय में ये करना है जो मुझे दिखाई दे रहा है शरीर आदि से लेकर अहम से लेकर के जितना भी दिखाई देता विषय है ये मिथ्या ये निश्चय करना था निश्चय ये करने की जरूरत नहीं है आता प्रकाश रूप है क्या प्रकाश रूप है ये निश्चय करने की जरूरत नहीं ना आत्मा ज्ञान रूप की क्या जड़ रूप है चेतन है क्या चेतन है ये सारी बात तो स्वतः सिद्ध सब आदमी बोलते हैं मैं चेतन कौन बोल रहा है मैं जड़ू है कोई बोलता है मैं जड़ू कोई नहीं कहा था मैं जड़ू कोई नहीं कहता मैं आप प्रकाश रूप हूँ मैं सबको देख रहा हूँ मैं सबको प्रकाशन कर ही रहा हूँ इसलिए जो है सभी चीजों को मानते हैं अतएव इसका निश्चय करने के लिए कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है महज प्रयास कोई कर्म उपासना आदि कुछ भी करने की जरूरत नहीं आत्मा की प्रकाश रूपता का निश्चय करने के निश्चय तेषाम निश्चय कर्तव्य आपका आत्मनाम प्रकाश रूपत्व निश्चय हो न कर्तव्य क्यों नित्य निश्चित स्वरूप इत्यर्थ क्योंकि ऐसा नित्य निश्चय रूप ही है क्योंकि निश्चय का विषय नहीं है आत्मा किंतु निश्चय रूप ही है आत्मा क्या आत्मा के निश्चय होने से अन्य का निश्चय होता है आत्मा की सत्ता से अन्य की सत्ता है ना इस अर्थात आत्मा है ये निश्चय जब तक ना हो तब तक अन्य का है ये निश्चय भी नहीं कर सकते आप अरे आप में निश्चय रहता है मैं हूँ तभी आप कहते घटे पटे मठे शरीर है सब कुछ है यदि आप नहीं है तो क्या है कुछ भी नहीं इसलिए अपनी निश्चय से ही सबका निश्चय होता है अपनी सत्ता से सबकी सत्ता होती है निश्चय होती है अतएव जय कहते स्वयं के निश्चय स्वरूप होने के नाते अपने आप को विषय रूप पर निश्चय करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती न सिंधी ही मान स्वरूपा एवं न एवं इति ये ऐसा है ये ऐसा नहीं अभिनय करके दिखा रहे एवं न एवं ये आत्मा ऐसा है ऐसा नहीं है इस प्रकार से संधि मानस स्वरूप नहीं है संदेह का विषयास्पद रूपा या नहीं होने के कारण से इसे निश्चय करने के लिए भी हमें कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं सभी प्रयत्न इतने में ये द्वैत के मिथ्यात्व के लिए ये सारा शास्त्र जितना का कर्म उपासना ध्यान सबका काम एक ही है द्वैत मिथ्यात्व निश्चय करना आत्मा के निश्चय करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं बोल रहे हैं योर एवं यथोक्त प्रकार सर्वदा बोधनिश्चय निरपेक्षता आत्मार्थम परार्थम जिस मोक्ष के अंदर यथोक्त प्रकार स्वप्रकाशात्तादि के द्वारा स्वप्रकाश नित्य ज्ञान रूप नित्य निश्चय रूप इत्यादि रूपेण आपने जब जान लोगे यथोक्त प्रकार मैंने नित्य ज्ञान रूपा नित्य प्रकाश रूपा आपने नित्य निश्चय रूपा है ये साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म कह दिया साक्षात अप्रोक्ष ही है वो कुछ और क्या अप्रोक्ष करोगे जो साक्षात अप्रोक्ष उसका अप्रोक्ष करना पड़ेगा क्या जिसका अप्रोक्ष नहीं है उसको तो अप्रोक्ष करोगे जो अत्यंत अव्यवहित होकर के स्वस्वरूप ही होने के नाते साक्षात का मतलब क्या अत्यंत अव्यवहित किंचित अपनी लेश मात्र भी भेद या व्यवधान किसी भी वस्तु की नहीं अविद्या का भी वहां नहीं काम कुछ नहीं वो तो भाई आप भ्रांति है तो हमें अविद्या मानना पड़ता है माया पहले बोल दिया था माया भी नहीं है कह दिया था वास्तव में तो माया भी नहीं है इधर जिसको संसार दिखाई दे रहा है जो मान रहा है मैं ये देवदत्त हूँ और मेरे कर्मे में अमुक वर्ण अमुक आश्रम का हूँ अमुक के हूँ तो ठीक है तुम्हारे पास फिर क्या एक गीता जी में भी वो शास्त्रार्थ बढ़िया भगवान भाषिका ने सिद्ध कर दिखा दिया जो कहता विद्या कहाँ है माया कहाँ है जो पूछने वाले उसी के पास है वो कहीं और है नहीं और पूछे भी जा रहा है संपन्न हो रहा है फिर पूछ रहे कहाँ है तीसरे वास्तव में आत्मा में किंचित लेश मात्र भी किसी भी तत्व का व्यवधान आवरण है स्वरूप में स्वरूप दृष्टिया आप बिल्कुल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वाले हैं इसलिए कहते हैं जो मोक्ष आएगा जान लिया उसकी बोध रूपता उसकी निश्चय रूपता आदि सर्वदा कहते हैं निरपेक्ष उसकी जो निश्चय करने के लिए निश्चय रूपता या ज्ञान रूपता आदि सर्वदाई निरपेक्ष है अन्य अपेक्ष नहीं है आत्मार्थम परार्थम चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण से दूसरा है तो दूसरे को समझाते हो उसको ही मालूम है भाई तुम्हारे भी आत्मा ऐसा हमारे भी आत्मा ऐसी क्योंकि आत्मा तो ये कहने तो है नहीं उपाधि को लेकर नाना कर व्यवहार हो रहा है तब भी ना मेरी आत्मा ना आपकी आत्मा कभी किसी प्रकार का गुण से या दोष संश्लिष्ट हो नहीं सकता है नाणु मात्र न गुण न दोषे न संबद्ध ऐसे ब्रह्म सूत्र के समन भाष में शुरू में ही लेते हैं ये तो संग्रह सत्यानंद को मिथुन भाव करके सब भ्रांति हो रखा है नहीं तो वास्तव में उस आत्मा में मात्र भी लेश मात्र भी यहाँ भी आया था कल अणुमात्र लेश मात्र भी गुण गुण का ये ना सोचे गुण गुण का संबंध रहता है नहीं गुण भी नहीं दोष भी नहीं कुछ भी नहीं गुण दोष आदि किसी भी चीज का संबंध हो नहीं सकता है असंग हो यम पुरुष वह असंग स्वरूप है असंगता भी हमारी जो भ्रांति कालीन सुसंगता है तो सापेक्ष होकर कथन किया जा रहा है उसको असंग कहना भी वास्तव उचित है शब्द व्यवहार ही वहाँ पर सापेक्ष है कालीन आरोपित तत्वों को लेकर के स्वरूप में जो है हम शब्द निषेध करता हुआ कथन करते हैं कि वास्तव में गो कोई धर्म उसके अंदर है ये भी मानना ठीक इसलिए कहते हैं कि देखो यथावा सविता नित्यम प्रकाशांतर निरपेक्ष स्वार्थम परार्थम वाच जैसे सूर्य देखिए नित्य प्रकाशांतर निरपेक्ष होकर प्रकाश दे रहा सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है वो अन्य प्रकाश की अपेक्षा किए बिना स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है दूसरों को भी प्रकाशित स्वार्थम परार्थम इतम भवरी इस प्रकार से है शांति ऐसी जो एक शांति की व्याख्या थी जैसे मोक्ष हो एवं तो सर्वदा बोध निश्चय निरपेक्षता तदेव शांति आत्मार्थम परार्थम या निश्चय जो निश्चय निश्चय रूपता है उसी का नाम शांति है बोध कर्तव्यता निरपेक्षता सर्वदा स्वात्म बोध कर्तव्यता बोध में ज्ञान मेरा कर्तव्य है मुझे ज्ञान पैदा कर लेना है ये भी भ्रांति है बोध कर्तव्यता भी निरपेक्ष है वहाँ पर उसकी भी अपेक्षा नहीं है बोधिष्ठ कर्तव्यता निरपेक्षता रूपा जो सर्वदा ही उसका निश्चय रहता है कि वास्तव में मुझे किसी भी वृत्ति किसी भी अंतकरण किसी भी प्रक्रिया से आत्मज्ञान पैदा करना नहीं है आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है और ज्ञान रूपी आत्मा को भी हमें किसी भी साधनों के द्वारा उत्पन्न करने की अपेक्षा नहीं है वह तो नित्य सिद्ध स्वरूप है जो उत्पन्न होने वाला है वो विनाशी जरूर होगा और ये अविनाशी तत्व होने के नाते इसको उत्पन्न करने की कोई जरूरत है ऐसे सदा उसके हृदय में निश्चय बना स्वात्मनी सो अमृतत्वाय अमृतत्व अमृत भावाय ऐसा जो मोक्ष ऐसे मोक्ष एवं निश्चय सोयम मोक्ष अमृतत्वाय अमृत भावाय मोक्षाय कल्पते मोक्ष समर्थ होती वही मोक्षानुभूति करने में समर्थ ये दृढ़ निश्चय सदा रहे चाहे किसी भी प्रकार के शरीर से व्यवहार हो रहा है सार कर्मशा शरीर तो रहेगा ही उसके मन से व्यवहार होते रहेगा लेकिन सर्व व्यवहार काल में अंदर से ये दृढ़ निश्चय होनी चाहिए मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ नित्य ज्ञान स्वरूप हूँ नित्य प्रकाश स्वरूप हूँ नित्य जो है निश्चय रूप ही हूँ नित्य अप्रोक्ष रूप है साक्षात अप्रोक्ष रूप यह दृढ़ निश्चय अंदर से बनेगा बाहर जितना व्यवहार जैसे अभिनेता लोग उनको अंदर से दृढ़ निश्चय मैं अमुक हूँ वो एक क्षण के भी नहीं भूल सकते बुरी अभिनय कर रहे हैं पूरा नाटक चल रहा है रावण बना है कोई राम बना है कोई कुछ बना है सब और वहाँ पर जो संबोधन अगला करेगा तो नहीं गए मेरे को स्थिति बोला ऐसे नहीं कहे मेरे को रावण करता है तू अरे मैं देवदत्त हूँ रावण कैसे बोल दिया मेरे को ऐसा मैं लड़ाई नहीं छड़ता हूँ यदि उसको मालूम है मैं देवदत्त मैं रावण नहीं हूँ फिर भी अगर उसको रावण कहे पुकारेगा तो भी कर तो नहीं ठीक है मैं रावण हूँ और उसमें दिखाएगा रावण का ताव दिखाएगा पूरी एक्टिंग करेगा पूरा रावण जैसे चिल्लाएगा दहाड़ेगा सब कुछ करेगा लेकिन अंदर से एक क्षण के लिए भी वो ये नहीं स्वीकार करता कि मैं रावण एक क्षण के लिए स्वीकार कर लेगा तो खतरे में पड़ गया हो वाक्य में रावण हो जाएगा फिर वास्तव तो में रावण हो जाएगा ऐसा होता है ना देवता का पूजा पाठ करते कभी कर देवता भावा जैसा आ जाता है तो देवता ही हो जाता है उसके ऊपर देवता चढ़ जाता है भूतावेश न्याय बताया था ना देवतावेश होते हैं और चावल वाली माई पत्नी क्या क्या होते दुनिया भर की चारों तरफ प्रसार होता है तो देवता आवेश जैसे फिर रावण आवेश हो जाएगा यदि वो क्षण भर मान ले मैं रावण हूँ तो रावण आवेश हो जाएगा लेकिन दृढ़ निश्चय है उसको एक क्षण के लिए भूल भ्रांति नहीं होती कि मैं रावण बल्कि सदा से ज्ञान है मैं गलत यहाँ पर होना है कि सदा ज्ञान रहे हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा ही है ये देवता मैं नहीं हूँ ऐसा जिसके अंदर दृढ़ निश्चय सदा सर्वदा अपने आत्मा के विषय में रहता है वही व्यक्ति जो मोक्ष के लिए समर्थ होता है आदि शांता सातापन्ना प्रकृति व सुनिर्वृदा सर्वे धर्म समाभिन्ना अजम साम्यम विशारदम आदि शांता ही अनुत्पन्ना जो कहता है आदि शांता सभी आपका सर्वे धर्मा सभी के सभी आगे है ना उत्तरार्थ का तीसरे पाद के सर्वे धर्म जो समस्त जीवात्मा है सदा शांत स्वरूप नित्य शांत आदि शातम है पहले से शांत उन्हें शांत करने की जरूरत नहीं किसी आत्मा की है ना उसकी आत्मा को शांति मिले अरे आत्मा को क्या शांति मिलेगा आत्मा शांत रूप है ही है उसको क्या शांति मिलनी है अरे तेरे मन को शांति मिलना बुद्धि को शांति मिलनी है अंतकरण में शांति होना है आत्मा को क्या शांति मिलेगा आत्मा तो शांति रूप ही है प्रेम व्यवहार भ्रांति से होता है वो मरा हुआ है बड़ा दुखी गया मर गया इसे उसके दुख दूर हो जाए उसके आत्मा को शांति मिल जाए इसलिए पूजा पाठ लोग करते श्रद्धांजलि महोत्सव मनाते नहीं फिर उसकी आत्मा को क्या शांति मिल रहा है वह हरी शांति नित्य शांति रूप ही है वो क्यों क्योंकि अनुत्पन्ना जन्मा है वो फिर जन्मा हुआ वस्तु में ही दुख वगैरह होता है अशांति हो जाती है क्लेशों के कारण से वासना के कारण से कहा इसलिए वो तो आचो ने क्या नाते वो तो आदि नित्य शांति स्वरूप ही है या आदि शब्द का सर्वतः नित्य समझना स्वरूप तो शांति है स्वरूप तो जो है शांति स्वरूप से नित्य शांति रूप है ये भी कैसे प्रकृति व स्वभाव तेव तो स्वरूप सुनिर्वृता सुनिर्वृत उपरता अत्यंत उपरति अत्यंत निर्वृत्त वो सिद्ध स्वरूप होने के नाते किंचित प्रवृत्ति संकल्प का भाव होने से आत्यंतिक उपरति रूप ही आत्मा वह आत्मा में कोई संकल्प विकल्प नहीं है इसलिए आत्मा आत्यंतिक निर्वृत्त स्वरूप है सिद्ध स्वरूप होने के नाते प्रवृत्ति रहित स्वरूप होने के नाते आत्यंतिक उपरति स्वरूप ही है समाभिन्ना सम भी है अभिन्न भी है सभी धर्म आपस में एक दूसरे से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है बस तो होता ना ये बहुत बड़ा विद्वान है ये बहुत छोटा विद्वान है ये अज्ञानी है इसकी आत्मा में कम ज्ञान है उसकी आत्मा में ज्यादा ज्ञान हो गया है अरे आत्मा में न ज्ञान बढ़ता है न घटता है आत्मा तो ज्ञान रूप है वहां कहा बढ़ना घटना ये सब अंतकरण का जो है बात है किसकी बुद्धि में ज्यादा ज्ञान है तो आत्मा में ज्यादा ज्ञान ये बुद्धि की कुशलता है मन की कुशलता है और अकुशलता को लेकर के व्यवहार होता है विद्वत्ता और अविद्वत्ता का व्यवहार है वास्तव में आत्मा तो स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है वहाँ बढ़ने घटने की कोई प्रश्न ही नहीं है इसे सभी जीव एक परमाणु दृष्टिया सर्व समान है सर्व सर्वज्ञ है सर्वित है ज्ञान स्वरूप ही है तीसरे कहते सब समय है और भेद औपाधि के होने के नाते सभी के सभी जीव एक दूसरे से अभिन्न नहीं है समाभिन्ना अजम साम्यम विचारदम अज है और कहते हैं आज तो अजन्म होने के नाते और विशुद्ध विशाल समता रूप ही है परस्पर साम्य होने के नाते आत्मा समर साम्य रूप है परस्पर धर्म क्या है सम होने के नाते आत्मा साम्य रूप हो गया जिसलिए अभिन्न एक में द्वितीय है इसलिए अज है अज होने के कारण से वह विशारदम मन विशुद्धम भगवत एक तो प्रयोग हो रहा है सब यहाँ शब्दावली आपस में जिसलिए ऐसा है इसलिए वैसा है बोलना पड़ेगा जिसलिए वह अभिन्न है इसलिए वह अज है जिसलिए अज है इसलिए वह विशारद विशुद्ध है और जिसलिए सम है इसलिए आत्मा साम्य रूप है समस्त जीवों में समरूप वाला होने के नाते एक में द्वितीय आत्मा साम्य स्वरूप वाला है, है? वहाँ तो उसके लिए हेतु बना दिया ना सुनिर्वृता के लिए तो अनुपन्ना अतिव सिद्ध स्वरूप सुनिर्वृत्ता हेतु हेतु भाव सब शब्दों को पुनरुक्ति दोष है अच्छा स्वमृत इत्यादि वचना कभी आपने कर दिया मोक्ष के लिए योग्य हो जाए समर्थ हो जाएगा और अपने आत्मस्वरूप नित्य ज्ञान नित्य निश्चय आदि रूप जानने से कतब वो आत्मा का और भी स्वरूप का वर्णन करो चिंतनार्थ निध्यासन के लिए उपयोगी तत्वों का कथन करने जा रहे तथा भी शांति कर्तव्यता आत्म इस जिस प्रकार से ज्ञान कर्तव्यता नहीं है बोध कर्तव्यता नहीं है उसी प्रकार से शांति कर्तव्यता भी नहीं है प्रकाश कर्तव्यता भी नहीं इसको प्रकाशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब प्रकाश उसको निश्चय करने की जरूरत नहीं क्योंकि निश्चय रूप नहीं है उसे ज्ञान करने की जरूरत नहीं क्योंकि ज्ञान रूप ही है उसका आत्मा शांति पैदा करने की जरूरत नहीं क्योंकि आत्मा शांति रूप ही है इस तरह से कहते हैं ना भी शांति कर्तव्यता आत्मनित्या क्योंकि चाहे आदि शांता नित्य में शांता नित्य शांति रूप क्यों है वो क्योंकि अनुत्पन्ना अजाश्च अभी आज क्यों हो गया प्रकृत्य अतएव सुनिर्वृत्ता इसलिए वो कैसा है सुष्टु उपरत स्वभाव सुष्टु उपरत स्वभाव वाला वहाँ संकल्प भी नहीं है जगत दिखाई दे रहे इसलिए मान लिया जाए तथ्य जो असो प्रदीक्षित एकोम प्रजा ये सब आरोप मात्र सृष्टि जिसको दिखाई दे रहा है उसके लिए कहना पड़ता है आत्मा ने संकल्प किया अरे आत्मा में संकल्प कहा से होगा कौन करेगा आत्मा में संकल्प एक में संकल्प भी नहीं हो सकता कोई अभिकरण नहीं कोई साधन नहीं कहाँ से संकल्प पैदा हो जाएगा आत्मा तो संकल्प तो आप देखते हैं व्यवहार में क्या देख रहे हैं हम मन बुद्धि से हम संकल्प करते हैं अब जब मन बुद्धि भी पैदा नहीं हुआ था ना अरे जब केवल आत्मा था एक में था सदैव जब अवस्था थी तो एक भूषण प्रजा है संकल्प कैसे कर दिया अरे अभी तो भूतों की सृष्टि हुई नहीं भूतों से भौतिक सृष्टि होगा मन बुद्धि अहंकार बनेगा तब न संकल्प करेगा इसे समझना चाहिए वो जो कथन है ना तब तेजो तदैक्षत ये सब केवल व्यवस्था दिया जा रहा है समझाने की प्रयास किया जा रहा है जगत कहाँ से आ गया जो दिखाई दे रहा है और लेकिन वास्तव उसमें व्यवस्था के विचार करके तो व्यवस्था बनती नहीं तो इसलिए मानना पड़ता है आपका मतलब जगत है नहीं इसलिए इसकी व्यवस्था आप नहीं कर पाते हैं कोई इसलिए भी जब श्रुतियों में जान करके सृष्टि के बारे में तो अलग अलग बात कर रही है कल एक बार एक अंडा पैदा हो गया बहुत बड़ा अंडा पैदा हो गया एक दो फूट गया आधा ऊपर चला गया आधा नीचे आ गया आधा ऊपर जो गया स्वर्ण में ही था दिवलोक हो गया ऐसे ऐसे वर्ण अब बताओ क्या है और कहते नहीं नहीं वो आत्मा से आकाश पैदा हुआ आकाश से वायु हुआ वायु से ये हुआ वो नहीं दूसरे लोकान सृजाई थी थी लोगों की स्थिति कर सीधे लोगों का संकल्प कर दिया सारे लोग खटाखट खड़े हो गए न अंडा है न आकाश में पैदा हुए सीधे लोग खड़े हो गए सारे के साथ कहीं कुछ कहीं कुछ वो इसलिए किया गया है जगत मिथ्यात्व का निश्चय करने के लिए ही जानकर और उसके लिए क्या करते दूसरे घर कल्प वैसे व्यवस्था मान लो <laughs> उन्होंने क्या किया जो जगत सत्य मानने वाला कोई वैसा तो देना पड़ेगा ना उसको उसका वो उस कल्प किसी और कल्प में रहा होगा हम तो इस कल्प चैत्र के हिसाब से मानेंगे हाथ पास आकाश आकाश से क्रम बिल्कुल क्रम ठीक बैठाया है इसी क्रम से सारी उत्पत्ति हुई है और बाकी जो सृष्टियों की कथा है वो किसी और कल्प में कभी हुआ होगा वो वेद है नित्य है अन्य अन्य कल्पों की कथा करती है वो श्रुति है ना ऐसे अपनी बात की सत्यता साबित करने के लिए उस श्रुतियों को कल्पांतरी कथा कर देती है लेकिन ये नहीं सोचते उपक्रम उपसंहार से वाक्य निश्चय कैसे करोगे कल्पांतर तो कहां से लाओगे तो उपक्रम उपसंहार का विचार करना पड़ेगा ना वेदांत में जो है कि यह वेदांत कहीं भी पूरे वेदों में मीमांसा भी इस बात को मानते हैं उपक्रम उपसंहार प्रकरण प्रकरण आप कह देते हो भी जवाब देते क्या करे प्रकरण वो जैसा प्रकरण वैसे तो अर्थ निश्चय करेंगे हम मीमांसा भी इसको लिया हुआ तो सभी को यह मानना पड़ता है उपक्रम उपसंहार का ही आधार पर उस संपूर्ण शास्त्र का उस प्रकरण समस्त का मुख्य अर्थ एक होगा उस मुख्य अर्थ का बोध कराने के लिए बीच में विभिन्न अर्थों की परिकल्पना की जाती है ताकि अनायास ही वह तत्व का बोध करा सके तर्ज कल्पित व्यवस्था के बिना जो है अकल्पित स्वरूप का बोध नहीं करा सकते हैं अति विभिन्न प्रकार सृष्टियों के पीछे विचार किया जाता है केवल उनकी अवास्तविकता वह पहले बुद्धि का आरोह करने के लिए कहा था कार्यक्रम बस यह कि बुद्धि अवतार आया बुद्धि को उस तत्व अवतरित कराने के लिए सारे विचार वास्तविकता का कथन करने में इनका तात्पर्य नहीं है इसको देखकर कहा सुष्टु प्रदस्त स्वभाव सर्वे धर्म समाज अभिन्ना चित समाभिन्ना समाज है खत्म समा और अभिन्ना कहते अज ये तो अजत अजत्ता देव सर्वे धर्म समाह अतएव आत्मस्वरूप साम्यम ब्रह्म की इसलिए साम्य है ब्रह्म इसलिए वह ब्रह्म अज होता हुआ साम्य है क्योंकि सभी आत्मा सम होने के कारण से ऐसा जो आत्मा निश्चित रूप से कैसा होगा विशारदम मन विशुद्धम मात तत्व यस्मात मोक्ष नास्ति कर्तव्य करता इसलिए कोई कहे मैं आत्मा की शांति करूंगा आत्मा को मोक्ष दिला दूंगा ये सब बकवास है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं आत्मा मुक्त है आत्मा नित्य शांत रूप है आत्मा में कोई शांति उत्पन्न करने की चीज नहीं है आत्मा को कोई मोक्ष प्रदान करने की जरूरत नहीं है आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है इसलिए कद तस्मात शांति मोक्ष वा नास्तिक कर्तव्य ये सब कर्तव्य कोटि के अंदर आ नहीं सकता तो स्वरूप कोटि के अंदर रहने वाले वस्तु है ये कर्तव्य कोटि तो भेद बुद्धि द्वैत निष्ठ वस्तु है कर्तव्यता अद्वैत में कर्तव्यता नाम का चीज हो नहीं सकता इसलिए बड़े कहीं जो है लोग कहता हो गया जान लिया ना आप ब्रह्म बाप खत्म और कुछ करने की जरूरत नहीं तुम ब्रह्म हो हमने बता दिया तुम समझ गया बात कुछ करने की जरूरत अनुभूति तो करना पड़ेगा तुम्हारे कहने से हमने सुने से अनुभव हो गया क्या ये बात उनके लिए कह रहे ना मांडुकी के आधार पर तुम सारी जनता को फैल दो तो चलेगा है? और चेले लोगों को बोल दे तुम ब्रह्म उसे जान ले मैं ब्रह्म और अगला दिन शादी कर ले सन्यास के बाद एक क्या तमाशा ऐसा होता है भय प्रजा में लग गया संन्यास के बाद हाँ? ब्रह्म होने के बाद ब्रह्म तो करता है काम है इसलिए मोक्ष हो गया ब्रह्म हो गया ब्रह्म हो गया तो संकल्प कर लिया जाया में क्या बोलने लगा इसीलिए सारा खटपट हो जाता है इसलिए मांडवी का जो विषय है तो वास्तविक जो अंतिम सीढ़ी की बात है नहीं तो अप्रोक्षानुभूति और पूर्वोत्तर क्षणों के मामला है केवल तो उसके पूर्ववर्ती स्टेज वालों के लिए बात है ही नहीं अरे तो सब में लागू कर दो तो सब इसलिए व्यवस्थित हो जाता है सारा मामला बिगड़ जाता है तो इसलिए कहते हैं स नई नित्य स्वभाव से कृतन किंचित अर्थवश्या कि नित्य एक स्वभाव है जिसका ऐसे में आप कुछ अपनी क्रिया कर्म उपासना ध्यान ध्यान के द्वारा कुछ करके कोई प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते कृतम किंचित अर्थवत नहीं नित्य का स्वरूप में आपके क्रियाक्रम के द्वारा कर्तव्य के माध्यम से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध आप नहीं कर सकते न तो प्रयोजनवान न प्रयोजनवत्ता नहीं हो सकती ते यथोक्तम परमार्थम प्रतिबंधा तय कृपणालोके कहते कि भाई एवं अन्य कहते ये यथोक्तम परमार्थम प्रतिबंधा जो यथोक्त परमार्थत्व को है? जान लिया नहीं टिप्पण पढ़ो इसीलिए ऐसे जगह तो हमको ना प्रतिपन्ना कहते टिप्पणकार कहते हैं वही प्रतिपन्ना का मतलब क्या स्पष्ट तो लिख रहे हैं ज्ञातवंत ज्ञातवंत जान लिया नहीं ज्ञात क्या कर्मणी अनुभूति हो गया ज्ञात में क्या भाव में नहीं का प्रत्यय लेना है का प्रत्यय लेना कर्मणी में ले लो ज्ञान विशिष्ट हो गया है अर्थात अनुभूति विशिष्ट हो गया है जो मुमुक्षो लोग उनको क्या कहा जाएगा तयेव अकृपणा वे क्या है अकृपणा अकृपणा मैंने किन उनके दुख नाम का चीज नहीं हो सकती लोके लोक में उनको ही अकृपण कहा जाता है कृपणा यह अन्य और जो दूसरे हैं वो संसार में अनुराग रखने वाले महादुखी होते हैं कृपणा एवं नित्या भेद निम्ना इसलिए क्यों कार्य का बता रहे उसके लिए वही वैरास्ती भेदे विचरता सदा भेद निम्न पृथक तस्माते कृपणा स्मृदा वैशारत्यंत वैरास्ती भेदे विचरता सदा सदा भेद नहीं विचार करने वालों के अंदर विशुद्धि नाम की जिसका आ नहीं सकती है अतः इस आत्मा को भी अनुभव कभी कर नहीं सकते जो भेद में ही विचार विचरण कर रहे हैं भेद निष्ठ भेद निर्विध क्रियाकलाप को करते रहते भेद को स्वीकार करके जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे जो लोगों के अंदर कभी भी वैशार्ध्य मान विशुद्धि हो नहीं सकती निश्चय नहीं होती है अतः भेद निम्न पृथकवादा क्योंकि भेद वाली जितने भी हैं उन सब का जो है ना भेद निम्न भेद की ओर प्रवृत्त होते हैं तस्वात इसलिए ही तो सश्रुति स्मृतियों ने कृपणा स्मृता विद्वानों ने सब ने कहा ऐसे जो लोग हैं कृपण है भाषिकार कर स्मार्ट क्यों इनको अन्यों को कृपण कहते हो क्योंकि भेद निंदा भेदानुयायी ना संसार अनुराह भेद का अनुसरण करने वाले हैं संसार में अनुराग रखने वाले हैं वो लोग इसलिए एक और जिनके अंदर वादा पृथक मैंने नाना वस्तु एवं वजनम नाना वस्तु है नाना वस्तु मिथ्या नहीं बोलते हो नाना वस्तु सत्य बोलते अनेक नित्य पदार्थ मानते हैं सब सब जगत भी नित्य है जीव भी नित्य है ईश्वर भी नित्य है सब नित्य ऐसे अनेकों को नित्य मानने वाले ये लोग हैं जो इत्यम वजनम ये इस प्रकार से कथन करने का स्वभाव है जिनका ते पृथकवादा द्वैती नहीं कर तो क्या कहेंगे सब द्वैती तस्मा दे कृपणा क्षुद्रा स्मृता इसलिए उन लोगों को क्षुद्र करके लोगों ने कहा है कौन कहा है ब्रह्म विद्वी विद्वत भी स्मृत उपदिष्टा विद्वानों के द्वारा इस स्मरण करके उपदेश किया गया है इस मार क्योंकि कृपण क्यों हो जाते हैं क्योंकि वैशारद्यम विशुद्ध नास्ती क्योंकि इनके अंदर विशुद्धि नाम की हो नहीं सकती राग द्वेष भरा पड़ा रहेगा जिसके पेट में राग द्वेष है अविशुद्धि कहाँ है अशुद्धि का तो स्वरूप है राग द्वेष और राग द्वेश मारेगा जागृत उदरम अंतरम कुरुते भयम भवत इत्यादि अनेक शक्तियों ने बता दिया है किंचित भी अंतर आपने कर दिया द्वैत के समान भी भावना आ गई तो गया तो पूरा का पूरा राग द्वेष के जाल में फंस गया ऐसे श्रुतियों ने अनेकों शब्दों से समझाया है इसे तेषाम भेद विचरता इसलिए भेद में ही विचरने वाले वे लोग है द्वैत मार्ग अविद्या कल्पित सर्वदा वर्तमान द्वैत मार्ग जो अविद्या कल्पित है उसी में सदा सदा जो रमण करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर कभी शुद्धि हो नहीं सकती अतएव उनको कृपण कहा गया है पूर्व संबंध अतो युक्तम में तेषाम कार्पण प्राय इसलिए उनकी कृपणता का कथन जो किया है वह उचित ही है युक्त युक्त ही है इस प्रकार से अवित्त निंदा पूर्वक विद्वान की प्रशंसा करने के लिए अगला कार्य का आरंभ होता है योग्य कृपण की कथा और अग्रपण की कथा भी करना पड़ेगा ना एक की निंदा के द्वारा दूसरे की स्तुति होती है निंदा निंदा करने का लक्ष्य है ही नहीं नहीं निंदा निंदे तुम निंदस्य बारम्बार जो है कुमार भट्ट की जानकारी का बताते हैं कहीं निंदा का लक्ष्य निंदा करने में नहीं होनी चाहिए यदि निंदा का लक्ष्य निंदा करने में रह गया फिर आपके पेट में द्वेष बढ़ते जाएगा और स्वयं के अनिंदनीय आकर के आपके दुर्भिमान बढ़ेगा स्वयं दूसरे को आपने निंदनीय समझा अर्थात स्वयं को आप अनिंदनीय समझोगे तो दुर्भिमान आ जाएगा इधर निंदा का लक्ष्य निंदनीय वस्तु की निंदा करने में नहीं होनी चाहिए कि निंदा का लक्ष्य विधेय का या स्वरूप का स्तुति करने के लिए अन्य को सावधान करने के लिए दूसरे की निंदा करो कोई आपत्ति लेकिन लक्ष्य उसका यह है भाई हम अपने आप को और दूसरों को तादृश दुर्गुणों से सावधान करना है उस दुर्गुण से निवृत्त करना है उसे उस दुर्गुण का निंदा किया जाता है क्यों कहा जाता है भाई सौ चूहे को मार के बिल्ली जहाज की यात्रा में चल पड़ी ये तो क्यों कह रहे इसलिए कह रहे भाई आप ऐसे गलत कर्म न करें यानी कि बिल्ली की निंदा है बिल्ली की निंदा करके क्या मिलेगा आपको यद्यपि साक्षात शब्दार्थ में बिल्ली की निंदा है ऐसे थोड़ा होता है सौ की हत्या कर दो और बाद में जो हज यात्रा किया मैं तीर्थ यात्रा करके उसको पवित्र कर सकता है कोई लेकिन है तो बिल्ली की निंदा में वाक्या लेकिन वहाँ लक्ष्यार्थ तो निंदा में नहीं है उसका तात्पर्य है अन्य साधकों को कहा जा रहा है ऐसे काम आपको नहीं करना रात पर डकैती मारा और दिन भर पूजा पाठ में बैठ गया क्या लाभ है कि तो फायदा नहीं है इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर भी यहाँ समझना ये जो कार्पण्यता का जो कथन किया अविद्वानों की उसका तात्पर्य है विद्वान का स्तुति में उस तत्व की स्तुति करना है जिस तत्व को पाने के बाद विद्वान अकृपण हो जाता है अजय साम्य तुये के भविष्य सुनिश्चिता ते ही लोके महाज्ञान कच्च लोको न गाहते लेकिन उस तत्व को कोई अनुभव नहीं कर पाता सब के साथ दुनिया उसका अनुभव कर ले यह असंभव है लोको न गाते यह जीव सामान्य जो बुद्धि वाले उसे कभी ग्रहण नहीं कर पाते अपने आप को बड़े बड़े बुद्धिमान मानने वाला तार्किक नहीं ग्रहण कर पाए तो सामान्य बुद्धि वालों को तो कहने की जरूरत क्या ये तो केवल वो व्यक्ति जो अंत करण से विशुद्ध है और साथ साथ श्रद्धावान है विवेक वैराग्य शक्ति संपन्न है वही व्यक्ति इस तत्व तो अनुभूति कर सकता है वाक्यों के द्वारा नहीं अजय साम्य तो एक के चित्त भविष्य सुनिश्चित कहते हैं उस अज और साम्य रूपी पदार्थ तत्व में जो कोई भी व्यक्ति के, के चित जो कोई ये नहीं जन्म से ब्राह्मण होना नहीं नहीं कोई ठेका नहीं स्त्री भी हो शूद्र भी हो कोई भी हो अरे स्त्री शूद्र कैसे उपनिषद पड़ेगा अरे उपनिषद नहीं पड़ेगा पुराणों की तरह समझ लेगा कथाओं के तत्व समझ लेगा तो वो अद्वे समझ ही रहा है कथाओं के अगर तत्पार्थ ग्रहण हो रहा है ना तो फर्क क्या पड़ा इसलिए यहाँ बोलेंगे भाषिकार यहाँ पर स्त्री भी स्त्री में अब उस पर टीका करके रहे स्त्री कहा से लाए बीच में टपका तो दिया आपने कहा मांड के कहा स्त्री कहा शूद्र अपिना शूद्रो वहां फिर अपी जोड़ दिया अपिना शूद्रोपी और शूद्रोपी ने अपी के क्या होगा मृक्षोपी कहना पड़ेगा उस अपी से क्या होगा फिर वो भी कहना अरे सारे आगे इसका मतलब संसार में कोई नहीं छूता सबको मुक्ति का अधिकार है जो कोई भी व्यक्ति अज सम तत्व का निश्चय कर लेता है वो तो मुक्त अरे निश्चय करने की प्रक्रिया जो उपनिषद के द्वारा महाराज के श्रवण के द्वारा या कथाओं के माध्यम से किस प्रक्रिया से नहीं कहा जा सकता तेरे सर्वाधिकार स्थापित कर दिया एक एक भविष्य ते ही लोग महाज्ञाना उन्हीं को हम लोक में कहेंगे कि महान विद्वान है निर्देश है ऐसा माना जाता है लेकिन उनसे ज्ञात परमार्थ तत्व का अवगाहन जो बोध है वह सामान्य बुद्धि वाले दुनिया नहीं कर सकती है वह तो दृश्य अग्रिया बुद्धिया अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाला सद्यो स्फूर्ति वाला जो व्यक्ति उसी के अंदर और स्फूर्ति की परीक्षा हम लेते हम पूछते हैं कोई बात हाँ, कर ले खसूची बन जाते इसका स्फूर्ति नहीं है सद्यो स्फूर्ति का मतलब प्रश्न पूरा होने से पहले जवाब आ जाए प्रश्न पूरी हुई नहीं जवाब हाजिर हो तब कहेंगे सत्य स्मृति तीक्ष्ण बुद्धि वाला है ये नहीं तो क्या कहते ट्यूबलाइट से खराब हो तो नहीं ट्यूबलाइट भी दो बार फिक पिक करके आ ही जाता है और दस बार फिक पिक करके भी ना आवे तो, तो बेकार है वो क्या समझेगा इस राज्य सामने तत्व को नहीं समझ सकता ये तो तीक्ष्ण बुद्धि वाले को ही फिर न्याय पढ़ाने के लिए न्याय को बट विद्वान ढूंढ रहे थे चला कोई ऐसा मिले जिसको हम पढ़ा सके जरा खोल के बैठे हैं सब आ जाएंगे अन्यता सिद्ध पंचम अन्यता सिद्ध भी आ जाएंगे केवल अन्यता सिद्ध क्यों तो फालतू चलाते रहे उनके सामने क्या फायदा इसलिए वो ढूंढने चले जब ढूंढने चल पड़े तो एक जगह घर के सामने में चले भिक्षा के लिए तो वो तो माता ने कहा आइए बैठिए अभी तैयार हो जाएगा ताजा बना दिया जाएगा फिर अंदर गई तो रसोई में देख रही आग बुझा हुआ है तो तुरंत बाहर खेल रहा था रघु कहते रघु इधर आओ जाओ पड़ो के घर से आग ले आओ रघु वहां खेल रहा था तो जैसे माँ की आवाज सुना दौड़े क्या है कहते आग ले आओ पड़ोसी से और तो तुरंत भागा वहां पर कहने लगा कि पड़ोसी से माँ ने आग मांगी ठीक है बेटा अभी ला रही हूँ वो तो जब तक अंदर से लाए तो कब किसमें ले जाओ ले आई अब किसमें ले जाए बर्तन तो लाया नहीं तो खट से उसने मिट्टी को हाथ में लिया फिर मिट्टी पर डाल दो वो खुदा वो महात्मा देख रहा था तो, ओ हो हो ये है स्फूर्ति वाला न्याय दर्शन पढ़ने लायक यही है उसका नाम था रघुनाथ शिरोमणि जब न्याय की टीका लिखते हैं कहते कल्पना जिन्नाता जिन्नाथ रघुनाथ शिरोमणि कल्पनाओं के आदिनाथ कौन है ब्रह्मा जी उसका भी मैं मालिक हूँ कल्पनाओं के आदिनाथ का भी नाथ हूँ मैं कल्पना ना तो हम रघुनाथ में और जब वेदांत के लिए लिख रहे हैं मैं कुछ नहीं आप कल्पना नाथाधिनाथ कहा भागते तो वो होता है ना कि वास्तविक जब सद्यो स्फूर्तिवान पुरुष तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है वो इन तत्वों का झटित समझते क्योंकि स्वस्वरूप ही है ना अलग तो है ही नहीं लेकिन स्वरूप जाने में परेशानी आ रही है इसका मतलब क्या है अभी बहुत मल जमा हुआ है तभी तो ग्रहण नहीं कर पा रहे अंड के समाप्त होने जा रहा है कितने ग्रहण कर पाए हम ब्रह्मा नहीं ग्रहण अभी मल बाकी इसका मतलब। अभी उसको दूर करना बाकी इसलिए कहते हैं कि देखो लोको न गाते भाषिका यही नम परमार्थ तत्व यह वह यह जो परमार्थ तत्व कहता है वो महात्मीर अपंडित वेदांत भिष्ट क्षुद्र अल्प प्रज्ञा नवगाह्यम जो कि कहता है अमहत्व भी जो महत्ता नहीं है जो कि अपंडित पंडित नहीं है जो कि वेदांत बहिष्ठ ही वेदांत का बहिर्भूत अन्य दर्शनों में निष्ठा रखने वाले लोग हैं क्षुत्र ही अल्प प्रज्ञ ही अनवगाही मिथ्या उनके दुरावगाही नहीं है इनमें देखो बहुत सुंदर हा महातत्व क्षुद्र हृदय जिनका हृदय संकुचित है वह भेद नहीं है वो क्षुद्र विचारधारा वाला कुक मंडूक है उनको कहते हैं अमहात्मा और उसका कारण क्या है अपांडित्य मैंने विवेक रही तत्व कुक मंडूक बनने का कारण क्या है विवेक का समय जागृति नहीं हो जाना अपांडित्य का भी कारण क्या बना कदे वेदांत वैष्ठ ही कद उसमें भेद दे रहे वेदांत इत्यादि सोचते वेदांत में से वही भूता जो अन्य दर्शन है उसी में ही स्थिति है जिनका उनको कहते वेदांत बहिष्ठ ही उनमें निष्ठा करने वाले जो अतएव क्षुद्र ही इसी कारण से वह क्षुद्र विचारधारा वाला होने करके अल्प प्रज्ञ वाले हो गए हैं पौरवा पर्याण पर्यालोचना अपरिचय परांग के था परि के पर्यालोचना का परिचय उनके अंदर है नहीं परिचय से परांग है विचार चातुर भवान एवं पदार्थ व्याख्यार्थ विभाग अवगम शून्य जिसलिए वो विचार में चतुर नहीं है इसलिए पदार्थ क्या है वाक्यार्थ क्या है लक्ष्यार्थ क्या है अलग अलग समझ ही नहीं पाते अत वे अल्प और ऐसे पारमार्थिक तत्व में एदारिशी अल्प प्रज्ञ क्षुद्र वेदांत पंडित महात्माओं के माध्यम से यह उदाही नहीं है किंतु इससे विपरीत जो महात्मा है जो वास्तविक पंडित है जो वेदांत अवहिष्ट है अर्थात वेदांत निश्चयी है अक्षुद्र है पूर्ण प्रज्ञ है उसी के द्वारा वेदांत को समझा जा सकता है इसको तो ग्रहण किया जा सकता है इसी बात को संकेत का कार्य आरम्भ हुई अजय साम्य परमार्थ तत्व भाषकार कहते हैं अजय साम्य की व्याख्या एक साथ कर दिया सीधे सीधे क्योंकि इन शब्दों का पूर्व कार्यक्रम में कर चुके हैं इसलिए आप कहते सीधा ही परमार्थ एवं ये केचित स्त्रियादियों सुनिश्चिता स्त्रियादियों भाषकर एवमेव बस ऐसा ही हुआ कि वो सामी वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ऐसा ही है इसका दृढ़ निश्चय कर लिया कौन जो कोई भी स्त्री आदि भी क्यों न हो स्त्री आदि स्त्री आदि नाम उपनिषद द्वारा ज्ञान अधिकार अभाव द्वारांतर प्रयुक्त अधिकार है समोदी अभिप्रेत्य भी टीका पहली पंक्ति कहने क्रियादि नाम अपने कैसे कह दिया शंका हुई उपनिषद द्वारा ज्ञानाधिकार को इनका है ही नहीं उपनिषद तो श्रवण ही नहीं कर सकते ये कैसे उनको जानुभूति हो जाएगी तब कहते द्वारांतर प्रयुक्त अधिकार संभव द्वारांतर ये पुराण आदि अन्य द्वार के माध्यम से जो है अन्य साधनों के माध्यम से विग्रहण करके वे भी इस को अनुभव कर सकते हैं सुनिश्चित सुनिश्चित तत्व महामस्मी असंभवनादि अनास्त ज्ञान बंद हो गया असंभावना विपरीत भावना आदि से रहित होकर एक साम्य अज तत्व ही मैं हूँ ऐसा निश्चय कर लिया है भविष्य चेत एव ही लोके महाज्ञान जिनके ऐसा निश्चय हो जाता है निश्चय से वे लोगों को लोक में महाज्ञान निर्चय तत्व विषय ज्ञान निर्चय तत्व के विषय का ज्ञानवान पुरुष है ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा लोग कहा करते हैं तत्व तेषा वर्मा तेषा पीतम परमार्थत्व सामान्य बुद्धि अन्यो लोग को न गाह्यते न गाहते वह जो तत्व है उनका जो मार्ग है ना वो मार्ग को भी नहीं समझ सकते तत्व को दूर की बात है उस मार्ग से भी डरते हैं होना अरे बाबा खतरा है बोले इसलिए तो खतरे का दे रखे लाल डेंजर फ्लैग पहनते ये मार्ग ही डेंजर मार्ग है आइए ना ऐसा लोग पहले से डर जाते सन्यासी और सन्यास मार्ग में आ ही नहीं सकते कर्म बल को त्यागने के घबराते अरे कर्म बल फल के बिना कैसे कर्म कर दू समझ ही नहीं सकते उस बात